जैन बोध कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक अठारह साधक अर्थात सोया हुआ सिद्ध भाग दो नानक मक्का गए रात सोए तो पैर उन्होंने पवित्र पत्थर की तरफ कर दिए थे पुजारियों को खबर लगी वे बहुत नाराज हुए पुजारियों से ज्यादा अंधे लोग खोजना कठिन नानक आया था इसको तो नहीं पहचान पाए ये वही था जो मोहम्मद थे जरा भी फर्क न था लेकिन उन्होंने देखे इसके पैर और कहा अपने पैर दूसरी दिशा में करो पवित्र मंदिर की तरफ परमात्मा की तरफ पैर शर्म नहीं आती और ज्ञानी होने का दावा करते तो नानक ने कहा तुम ही मेरे पैर उस तरफ कर दो जहां परमात्मा ना हो पुजारी मुश्किल में पड़ गए होंगे अब पैर कहां करें जहां परमात्मा ना हो कहानी तो यह कहती है कि उन्होंने पैर सब दिशाओं में करके देखे लेकिन जिस तरफ पैर किए उसी तरफ मक्का का मंदिर घूम गया मगर यह तो प्रतीक है मंदिरों का घूमना इतना आसान नहीं पुजारी नहीं घूमते मंदिर क्या घूमेंगे पुजारी पत्थर है तो पत्थरों के मंदिर क्या घूमेंगे लेकिन बात सच है पुजारियों को समझ में आ गई होगी इतनी बात कि पैर कहीं भी करना व्यर्थ क्योंकि मंदिर तो उसका सभी तरफ वो किस दिशा में नहीं और जिस तरफ हम इसके पैर करेंगे ये कहेगा कि यहां परमात्मा नहीं और यह भी तो कहना उचित नहीं है कि इस दिशा में थोड़ा ज्यादा है उस दिशा में थोड़ा कम है क्योंकि परमात्मा कम ज्यादा हो सकता या तो है या नहीं है उमोम नानक जैसा आदमी रहा होगा उसने पंखे को चांद कर घुमा के कहा कहा नहीं है उसका मार्ग कहा नहीं है उसका आरंभ शिष्य और मुश्किल में पड़ गया हो अगर कभी कोई बुद्ध पुरुष मिल जाए तो जहां तक बने उसी में डूब जाना उचित है दूसरा बुद्ध पुरुष मिल जाए तो तुम्हारा कंफ्यूजन और बढ़ेगा घटेगा नहीं क्योंकि दूसरा बुद्ध पुरुष दूसरी भाषा बोलेगा पहली भाषा भारी पड़ रही कैम्बो ही समझ में नहीं आया था अब और मुसीबत हो गई क्योंकि बिल्कुल विपरीत भाषा है कैम्बो ने दिशा बताई इशारा साफ किया था इस आदमी ने सब दिशाएं छीन ली इशारा और धूमिल हो गया कैम्बो ने कहा था ये रहा इस आदमी ने कहा कहा नहीं दोनों एक ही बात कहते थे लेकिन ये शिष्य बड़ी मुश्किल में पड़ जाए दो बुद्धों के बीच अगर शिष्य पड़ जाए तो पिस जाए एक बुद्ध काफी ऐसा हुआ एक यहूदी बुद्ध पुरुष हुआ बालसेन तोफ एक शिष्य उसके पास आता था उस शिष्य के लिए यही रबाई था यही गुरु था शिष्य पापी भी था उपद्रवी भी था शराबी भी था सब तरह के दुराचरण थे एक दिन बालसेम को पता चला कि वो शिष्य दूसरे गांव गया है दूसरे रबाई दूसरे गुरु के पास जब लौट के आया तो बालसेन ने पूछा कि क्या मैं अकेला काफी नहीं तो शिष्य ने कहा कि ऐसा है वो शिष्य एक छोटा सा गाड़ीवान था उसने कहा ऐसा है कि अगर कीचड़ बहुत है तो एक घोड़े से काम नहीं चलता दो घोड़े जोतना पड़ते और कीचड़ बहुत है सो तो आप भली भांति जानते हो सो तो मैंने सोचा अच्छा होगा दो गुरु दो घोड़े कीचड़ से आप अकेले से न निकाल पाए क्योंकि बहुत कीचड़ है आपका कसूर नहीं है बालसिंह ने कहा तो ठीक कहता है लेकिन इस जगत में जहां तू गुरुओं की खोज कर रहा है यहां अक्सर घोड़े विपरीत दिशाओं में खड़े तो दो घोड़े अगर एक गाड़ी में दो तरफ जोड़ दिए तो कीचड़ से निकलना कभी संभव ही ना हो पाएगा एक बाहर खींचेगा दूसरा भीतर खींच ले दो बुद्धों से बचना एक काफी क्योंकि कभी कभी दवाइयां बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक सिद्ध होती और दो तरह की दवाइयां तो बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती सभी दवाइयां जहर हैं और जहर को अमृत में बदलना कला है लेकिन दो विपरीत जहर ले जाने पर बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाती पृथ्वी पर बहुत बुद्धों के कारण बहुत कठिनाई है कसूर उनका नहीं है क्योंकि हर बुद्ध अपने ढंग का है वो अपने ही ढंग से बोलेगा अपने ही ढंग से कहेगा वो तुमसे समझौता भी नहीं कर सकता उसने जिस ढंग से जाना है वो उसी को प्रमाणिक रूप से कह भी सकता है दूसरे ढंग की बात कर भी नहीं सकता कैम्बो ने शून्य से जाना तो शून्य की बात कही उमोन ने पूर्ण से जाना तो पूर्ण की बात कही तुम्हारी बुद्धि के लिए बड़ी कठिनाई हो जाएगी क्योंकि ये दो विपरीत बातें हो गई तुम्हारे लिए ये विपरीत नहीं है सिद्ध के लिए लेकिन तुम अगर सिद्ध होते तो तुम चिंता में ही क्यों पड़ते तुम अगर सिद्ध होते तो मैं इन बुद्धों के पास जाते ही क्यों तुम गए ही इसलिए कि तुम अभी स्मरण से भरे हुए नहीं हो तुम्हारी बुद्धि बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी वो शिष्य उमोन के पास गया और उससे भी वही सवाल पूछा फिर कहानी नहीं कहती कि वो कहीं गया कि नहीं वो जाने की हालत में ना रहा हो उसका विभ्रम भारी हो गया हो शायद उसने ये तलाश ही छोड़ दी होगी कि तो पागलपन का मामला है एक कहता है ये रहा और एक कहता है कहा नहीं इससे ज्यादा विपरीत छोर और क्या होंगे शायद वो अपनी दुकान पर वापस लौट गया हो उसने सोचा होगा अपनी दुकान करो अपना धंधा करो लेकिन पीछे किसी और ने जो अध्ययन कर रहा होगा इन घटनाओं का और इस शिष्य के लिए दिए गए दो उत्तर जिसने पढ़े होंगे उसने ममोन से तीसरे बुद्ध पुरुष से पूछा कि इस घटना का राज क्या है अब ये और एक खतरनाक बात है इसमें तुम एक तीसरे बुद्ध पुरुष को प्रवेश करवा रहे हो उसकी व्याख्या तुम्हें हल नहीं करवाएगी उसकी व्याख्या एक तीसरे सूत्र को भीतर ले आएगी ममोन से इसी घटना का राज जब किसी ने पूछा तो उसने कहा इसके पहले कि पहला कदम उठे मंजिल आ जाती और इसके पूर्व की जीव हिले वक्तव्य पूरा हो जाता है उसने न तो शून्य की तरफ इशारा किया न पुण्य की तरफ इशारा किया उसने कुछ और ही बात कही उसने दोनों घटनाओं के संबंध में कुछ कहा जो कि अति जटिल है इससे ज्यादा जटिल वक्तव्य नहीं हो सकता उसने कहा इसके पहले कि पहला कदम उठे मंजिल आ जाती मंजिल इतने पास है तुम तो मार्ग की बकवासी क्यों कर रहे हो तुम तो मार्ग का पूछते ही क्यों तुम पूछोगे गलत सवाल मुश्किल में पड़ोगे तुमने पूछा मार्ग कहां है कैंबो ने शून्य बना दिया कहा यह रहा तुम इतने से राजी ना हुए तुमने पूछा मार्ग कहां है फिर भी पूछा उमोन ने कहा कहां नहीं सब तरफ और अब तुम पूछते हो कि इन दोनों का राज क्या है तो ममोन कह रहा है इसके पहले कि पहला कदम उठे मंजिल आ जाती मार्ग की बात ही बकवास है पहला कदम उठता नहीं कि मंजिल आ जाती पहले कदम के उठने में मंजिल है मार्ग तो तब होता है जब मंजिल में और तुम में फासला हो तो फिर हजार कदम उठाना पड़े दस हजार कदम उठाना पड़े तब मंजिल आए लेकिन तुमने पहला कदम उठाया नहीं पहला कदम जमीन को छू भी नहीं पाता कि मंजिल आ जाती ये तो बड़े मजे की बात हो गई उसने कहा कि उठना ही पहले कदम का मंजिल का आ जाना है तुम दूर नहीं हो सिर्फ ख्याल की बात साधक ने उठाया कदम कि सिद्ध हो गया कदम उठाने की वजह से सिद्ध नहीं होता क्योंकि उतना भी फासला नहीं कदम उठाने का ख्याल संकल्प बस काफी है तुमने तय किया कि ध्यान कि ध्यान हो जाए और नहीं हो रहा तो उसका मतलब है कि तुमने तय ही नहीं किया तुम खेल खेल रहे हो अपने साथ एक मस्जिद में एक फकीर पूछ रहा था उसने स्वर्ग के बड़े सुंदर चित्र खींचे और कहा कि किन किन को स्वर्ग जाना है खड़े हो जाएं उसकी वाणी में बल था आंखों में तेज था जादू था करीब करीब 90 प्रतिशत लोग खड़े हो गए फिर भी 10 प्रतिशत लोग बैठे थे उसने कहा बैठ जाओ फिर उसने नर्क की तस्वीर खींची बड़ी भयानक कि लोगों के रोए खड़े हो गए लोगों को लगने लगा कि लपटें आसपास जल रही कि लोगों के हृदय धड़कने लगे और उसने पूछा कि अब खड़े हो जाए कौन कौन लोग स्वर्ग जाना चाहते सभी लोग खड़े हो गए सिर्फ एक आदमी को छोड़ उस फकीर ने पूछा हद हो गई तुम्हारा क्या इरादा है तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते मैं कहा कि जाना तो चाहता हूं लेकिन इतने जल्दी नहीं और आपकी बातचीत से ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल तैयार है बाहर खड़ी बस यहां हां था कि वहां बस में बैठा है इतने जल्दी नहीं तुम भी जब ध्यान करने जाते हो तुम अपने मन से पूछना तुम्हारा मन पूरे वक्त कह रहा है इतने जल्दी नहीं अगर तुम ध्यान में असफल होते हो इसलिए नहीं कि ध्यान कठिन ध्यान में असफल होते हो क्योंकि तुम पहला कदम भी उठाते नहीं तुम अपने को ही धोखा दे रहे हो तुम सिर्फ खेल कर रहे हो पैर उठाने का उठाते नहीं क्योंकि तुम्हारा मन भीतर से कह रहा है इतने जल्दी नहीं अभी संसार में और रस बाकी है अभी कुछ भोगने को शेष है अभी कुछ जानने को बाकी है इतने जल्दी नहीं अभी वक्त है इतनी जल्दी भी क्या है तुम अगर सच में ही पहला कदम उठाने को राजी हो तो ममो ने ठीक कहा कि रास्ता सब बकवास कोई रास्ता नहीं न छड़ी से खींच के रास्ता बताया जा सकता न पंखे से हिला के रास्ता बताया जा सकता रास्ता है ही नहीं पागल पहला कदम उठा नहीं कि मंजिल आ जाती उठा नहीं कि मंजिल आ जाती उठने से नहीं आती बस उठने का ख्याल काफी है तुम साधक हो तुम्हारे विचार के कारण तुम सिद्ध हो जाते हो तुम्हारे निर्विचार के कारण बस एक हल्का सा कदम वो भी पूरा नहीं और इसके पहले की जीव हिले वक्तव्य पूरा हो जाता है क्योंकि जीव के हिलने से जो भी कहा जाए वो सत्य नहीं हो सकता फिर चाहे कोई छड़ी को हिला के बताए उसने भी बाहर के जगत का प्रयोग किया और भीतर की घटना को बताने के लिए बाहर का जगत संकेत का काम भी नहीं कर सकता फिर चाहे कोई पंखा हिलाए उसने भी स्थूल का उपयोग किया सूक्ष्म को दर्शाने के लिए कोई स्थूल सूक्ष्म को दर्शा नहीं सकता शब्द बोले जाएं उसके पहले ही वक्तव्य पूरा हो जाता ममोन कह रहा है इसके पहले कि कैंबो की छड़ी घूमी रास्ता बता दिया गया और इसके पहले कि उमून का पंखा भटका सब दिशाओं को दिखाने इसके पहले कि पंखा हिला उसी वक्त समझ लेना था वो जो सत्य का वक्तव्य है वो व्यक्ति के भीतर है उसकी अंतरात्मा है जब तुम बुद्ध पुरुष के पास जाओ तो प्रश्न मत पूछना उसे देखना वो जब बोलता नहीं है तब उसे देखना क्योंकि वही असली वक्तव्य है जब उसकी छड़ी नहीं हिलती तभी वो शून्य है छड़ी भी हिली तो शून्य में आकृति आ गई कुछ तो हो गया कंपन हो गया बात झूठी हो गई जब बुद्ध पुरुष के पास जाओ तो उसके पंखे की रास्ता मत देखना जब वो सब दिशाएं दिखाए क्योंकि जिसे दिखाना पड़े वो सब दिशाओं में नहीं हो सकता सब दिशाओं में हम अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं जिसको भी हम अभिव्यक्त करेंगे वो सीमित हो जाएगा अभिव्यक्ति सीमा है परिभाषा है ममोन ने बात और भी उलझा थी सच यह है कि जितना सुलझाओ उतनी बात उलझती क्योंकि सुलझाते तुम बुद्धि से हो और बुद्धि उलझाने का उपकरण जिस दिन बुद्धि को छोड़ते हो उस दिन बात सुलझ जाती है सुलझी ही थी ये मामला कुछ ऐसा है कि तुम एक रंगीन चश्मा लगा के जगत को देख रहे हो सब तुम्हें नीला नीला दिखाई पड़ता है और तुम उसी चश्मे से और गौर से देखने की कोशिश करते हो ताकि नीला ना दिखाई पड़े तुम जितना ही गौर से उस चश्मे से देखते हो जगत और नीला दिखाई पाता चश्मा उतार के तुम नीचे रख दो जगत का नीलापन खो जाता बुद्धि से तुम जब तक देखोगे जगत एक समस्या है जगत समस्या नहीं है बुद्धि से देखने में सारा उपद्रव बुद्धि रंग देती है और बुद्धि का रंग समस्या है वो हर चीज में से समस्या उठाती है बुद्धि का स्वभाव प्रश्न निर्मित करना जैसे वृक्षों में पत्ते लगते हैं ऐसे बुद्धि में सवाल लगते प्रश्न लगते हैं बुद्धि को हटा दो सनातन से कभी कोई प्रश्न नहीं रहा है कभी कोई प्रश्न था ही नहीं अस्तित्व में अस्तित्व निष्प्रश्न है अस्तित्व साफ है रहस्य खुला है वहां कुछ भी उलझा नहीं है तुमने पूछा कि तुम उलझे बुद्ध के पास कोई आया सवाल लेकर आया था बुद्ध ने कहा अगर तुमने पूछा तो फिर सुलझाना मुश्किल है तुम चुप रहो तुम पूछो ही मत साल भर रुक जाओ साल भर बिल्कुल चुप रहो और पूछो मत फिर साल भर बाद पूछ लेना फिर मैं जवाब दे दूंगा वह आदमी बहुत जगह भटक चुका था बहुत जवाब उसने पाए थे लेकिन जवाब मिला नहीं था भटकना भी जारी थी सुझाए थे लोगों ने हल लेकिन समाधान हुआ नहीं था समस्या कायम थी उसने सोचा चलो ये भी प्रयोग करके देख लो साल भर की ही बात है उसने कहा ठीक तो साल भर बाद आप जवाब देंगे बुद्ध ने कहा निश्चित जब ये बात ही चल रही थी तब एक भिक्षु पास के वृक्ष के नीचे बैठ के खिलखिला के हंसने लगा उस आदमी ने पूछा क्या बात है तो उसने कहा कि धोखे में मत पड़ना इसी चक्कर में हम पड़ गए थे कई साल बीत गए इस आदमी ने जवाब न दिया तो उस आदमी ने बुद्ध से कहा यह आदमी क्या कह रहा है बुद्ध ने कहा इसने पूछा ही कहां साल भर के बाद शर्त यह थी कि तुम पूछोगे साल भर बाद हम जवाब देंगे उस आदमी ने कहा यही चाबी है इस खेल की पूछना हो अभी पूछ ले क्योंकि साल भर अगर चुप रह गया तो चुप भी आ जाती फिर कोई पूछता ही नहीं बुद्ध ने कहा मैं अपने वचन पर दृढ़ रहूंगा जब भी तू तो पूछेगा जवाब दूंगा साल भर बीता और बुद्ध ने ठीक साल भर के बाद सुबह की भिक्षुओं की सभा में उस भिक्षु को कहा तू खड़ा हो जा और पूछ वो हंसने लगा उसने कहा कुछ पूछने को नहीं है और अब मैं जानता हूं बली बात कि जो भी जानने को था वो चुप होकर मिल जाता ममोन ने कहा इसके पहले कि पहला कदम उठे मंजिल आ जाती और इसके पूर्व की जीव हिले वक्तव्य पूरा हो जाता है गुरु के पास उत्तर की खोज में मत जाना अगर गए तो तुम गुरु के पास पहुंच ही ना पाओगे गुरु के पास चुप्पी की खोज में जाना कैसे मन को हटा के रख दो कैसे बिना मन को जीवन को तुम देख सको वहां कभी से कोई प्रश्न नहीं रहा है वहां कोई उलझन ही नहीं वहां सब सुलझा हुआ है वहां एक रत्ती भर भी कोई जटिलता नहीं सब कुछ सीधा साफ और सरल है जैसे सूर्य की किरण कांच के टुकड़े से निकलती प्रिज्म से निकलती सात हिस्सों में बढ़ जाती सात रंग पैदा हो जाते सूरज की किरण सफेद है रंगहीन है ध्यान रहे सफेद कोई रंग नहीं सफेद रंगहीनता है काला भी कोई रंग नहीं काला सभी रंगों का अभाव है मिश्रण नहीं सभी रंगों का अभाव सफेद सभी रंगों का भाव है दोनों रंग नहीं काला शून्य की भांति है सफेद पूर्ण की भांति दोनों रंगों के दो तरफ बीच में सात रंगों का इंद्रधनुष है अगर तुम सातों रंगों को जोर से मिला दो तो सफेद बन जाएगा छोटे बच्चों को स्कूलों में समझाने के लिए वर्तुलाकार चाक बना लेते हैं उस चाक में सात रंग होते हैं फिर उस चक्के को जोर से घुमाते हैं घूमने पर वो चक्का सफेद हो जाता तुम अपने बिजली के पंखे में सात रंग लगा दे सकते हो और फिर उसे चला दो पंखा सफेद हो जाए जब सातों रंग जोर से घूमेंगे और मिल जाएंगे तो सफेद हो जाएंगे सूरज की किरण सफेद है सभी रंगों की पूर्णता है वहां कोई रंग नहीं है वहां क्योंकि सभी रंग एक दूसरे को काट देते हैं अभाव रह जाता है सूरज की किरण शंकर के ब्रह्म जैसी या फिर तुम सभी रंगों को अलग कर लो पंखा सफेद हो जाए जब सातों रंग जोर से घूमेंगे और मिल जाएंगे तो सफेद हो जाएंगे सूरज की किरण सफेद है सभी रंगों की पूर्णता है वहां कोई रंग नहीं है वहां क्योंकि सभी रंग एक दूसरे को काट देते हैं अभाव रह जाता है सूरज की किरण शंकर के ब्रह्म जैसी या फिर तुम सभी रंगों को अलग कर लो तो काला बचता है इसलिए जहां प्रकाश नहीं होता वहां काला काला इसलिए बच जाता है कि प्रकाश ना हो तो रंग पैदा नहीं हो सकते वो भी अभाव है वो बुद्ध के शून्य जैसा है इन दोनों के बीच में सात रंगों की दुनिया है इंद्रधनुष का फैलाव है और इंद्रधनुष से ज्यादा झूठ तुमने कोई चीज देखी दिखता है आकाश में एक कोने से दूसरे कोने तक फैला हुआ और अगर तुम पास जाओ तो खो जाता है मुट्ठी बांधो तो पकड़ में नहीं आता इंद्रधनुष भ्रम का प्रतीक हो गया है तो ज्ञानियों ने कहा जो संसार में भटक रहा है वो वासनाओं के इंद्रधनुष पकड़ने की कोशिश कर रहा है जितने तुम पास जाते हो वे दूर हट जाते हैं सदा दिखाई पड़ते हैं बड़े रंगीन कि अगर घर में ले आए तो घर रंगीन हो जाए फूल ही फूल खिल जाएंगे घर में लेकिन इंद्रधनुष को पकड़ने का कोई उपाय नहीं क्योंकि वो है नहीं वर्षा के दिनों में जब आकाश में पानी की बूंदें लटकी होती हैं वायुमंडल में तो सूरज की किरण पानी की बूंदों से निकल के टूट जाती है साथ हिस्सों सौ इससे इंद्रधनुष निर्मित हो जाता मन एक प्रिज्म है इस जगत में इतने रंग दिखाई पड़ रहे हैं वो तुम्हारे मन के प्रिज्म से टूट के मन की बूंद से सारा इंद्रधनुष निर्मित हो रहा है तुम मन को हटाओ इंद्रधनुष खो जाता है मन के हटते ही या तो सफेद रह जाता है वो तुम्हारी व्याख्या है या काला रह जाता है वो भी तुम्हारी व्याख्या है कुछ ज्ञानियों ने कहा परमात्मा प्रकाश की तरह कुछ ज्ञानियों ने कहा महान अंधकार की बात ही तुम्हारी पसंद की बात है तुम अगर थोड़े भयभीत व्यक्ति हो तो तुम कहोगे परमात्मा प्रकाश की बात ही अगर तुम थोड़े निर्भीक व्यक्ति हो तो तुम कहोगे परमात्मा गहन अंधकार की बात है क्योंकि दुनिया में भयभीत लोग ज्यादा हैं इसलिए परमात्मा को प्रकाश की भांति मानने वाले लोग ज्यादा हैं अंधकार की भांति मानने में तुम्हें डर लगेगा लेकिन दोनों संभावना है शून्य अंधकार पूर्ण प्रकाश और तुम्हारे मन के द्वारा अगर तुम देखो तो फिर रंग ही रंग फैल जाते हैं फिर बड़ी उलझन खड़ी होती फिर इंद्रधनुष खड़े हो जाते मन को हटाते ही सात खो जाते हैं और एक रह जाता है ये जो ममोम ने कहा इसे बहुत गहरे में डूब जाने देना इसके पहले कि पहला कदम उठे मंजिल आ जाती तुम्हें कहीं जाना नहीं मार्ग पूछो मत तुम वहीं खड़े हो जहां मंजिल है तुम जैसे हो इससे ज्यादा कठिन बात नहीं हो सकती क्योंकि हम सब अपनी निंदा में लगे हुए हैं और तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हें निंदा सिखा रहे हैं वो कह रहे हैं तुम पापी हो वो कह रहे हैं तुम अधर्मी हो तुम नारकी जीव हो तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हारी जितनी निंदा कर रहे हैं उतनी निंदा कहीं और नहीं हो रही तुम्हारे मंदिर तुम्हें ग्लानी से भर रहे हैं तुम्हारे धर्मशास्त्र तुम्हें गहरी आत्म पीड़ा आत्म आलोचना से भर रहे हैं जबकि सच्चाई बिल्कुल दूसरी है सच्चाई यह है कि तुम जाओ वहां रत्ती भर कुछ करने की जरूरत नहीं है बस जरा सा होश जरा सा स्मरण कि तुम कौन कभी रास्ते के किनारे खड़े होकर एक छोटा सा प्रयोग करना रास्ता चलता है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तुम उन्हें देख रहे हो और तुम सोचते हो कि तुम उन्हें देख रहे हो लेकिन तुमने उन्हें कभी देखा तुम उन्हें देखोगे कैसे रास्ते के किनारे खड़े हो जाना और सोचना कि वो भी तुम्हें देख रहे हैं जैसा तुम उन्हें देख रहे हो लेकिन क्या वे तुम्हें देख सकते हैं तुम्हारे शरीर को ही देख सकते हैं तुम्हें तो नहीं तुम्हारे रूप को देख सकते हैं तुम्हें तो नहीं तुम्हारी बाहर की परिधि को देख सकते हैं तुम्हें तो नहीं रास्ते के किनारे खड़े होकर देखना कि तुम्हें तो कोई भी नहीं देख सकता है तुम अदृश्य हो और जिसे वे देख रहे हैं वो तुम्हारी दृश्य खोल है तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता ये इतनी आंखें जो रास्ते से गुजर रही तुम्हें देखती सिर्फ तुम्हारी परिधि को छूती तुम अस्पर्शित रह जाते तुम कौन हो ये जो दिखाई नहीं पड़ रहा किसी को भी रास्ते पर तुम खड़े हो भरे बाजार में और तुम्हारे भीतर जो चेतना है वो किसी को भी दिखाई नहीं पड़ रही अदृश्य इसका स्मरण इस थोड़ा भरने देना कि मैं अदृश्य हूं मुझे कोई भी नहीं देख रहा मुझे कोई देखना भी चाहे तो देख नहीं सकता और जिसे लोग देख रहे हैं वो मैं नहीं हूं वो तो केवल देह कल जवान थी आज बूढ़ी है कल थी कल नहीं हो जाएगी ऊपर की खोल है मेरे वस्त्र मैं कौन हूं उस भरे बाजार में तुम अपनी तरफ ख्याल कर अचानक जैसे सारा फोकस बदल जाए जैसे ध्यान की सारी की सारी प्रक्रिया बदल जाए शरीर से आत्मा की तरफ तुम्हारा रुख हो जाए एक क्षण को भी अगर ऐसा हुआ उस भरे बाजार में तुम अकेले हो जाओगे सब खो जाए तुम ही हो अत्यंत अकेले और ये जो स्थिति है तुम्हारी यही स्थिति सिद्ध की ये तुम्हें क्षण रहेगी फिर चूक जाओगे तुम फिर झपकी लग जाएगी फिर तुम लोगों को देखने लगोगे फिर तुम समझने लगोगे लोग तुम्हें देख रहे हैं सिद्ध की यह स्थिति सदा बनी रहती है तुम्हारी यह स्थिति कभी क्षण भर को बनती है खो जाती लेकिन यह स्थिति तुम्हारे भीतर है तुम भूल जाओ तो भी खो नहीं सकते तुम जैसे हो वैसे परिपूर्ण हो कमी तुम में जरा भी नहीं सिर्फ स्मरण चाहिए और इस स्मरण को लाने के लिए जरूरी है कि तुम थोड़ा अपने को हिलाओ और जगाओ सारे ध्यान के प्रयोग जागरण के प्रयोग होश अवेयरनेस के प्रयोग तुम बाजार में ये प्रयोग करना बाजार से अच्छी जगह तुम हिमालय पे भी ना पा सकोगे क्योंकि वहां तुम दूसरों पर ध्यान रखना और देखना कि वो तुम्हें देख रहे हैं और फिर भी कोई तुम्हें नहीं देख रहे कोई तुम्हें देख नहीं सकता तुम अदृश्य हो यहां इस बीच बाजार में खड़े बिल्कुल अकेले हो इस भीड़ के बीच अत्यंत एकाकी हो धीरे धीरे भीड़ दूर होती जाएगी जैसे सपना हो गई जैसे जैसे तुम अपने करीब आओगे भीड़ दूर होती जाएगी कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि भीड़ करीब आई दूर हुई करीब आई दूर हुई कई बार बाजार की आवाजें बहुत दूर सुनाई पड़ने लगेंगी जैसे कहीं किसी दूसरे गांव में जब तुम अपने करीब होगे बाजार दूर हो जाए जब तुम अपने से दूर होगे बाजार करीब आ जाए और ये पूरे समय तुम्हारा फोकस बदलेगा एक क्षण को भी अगर जिसको कबीर ने कहा ऐसी तारी लागी अगर एक क्षण को भी वहां भीतर जागना हो जाए तो बाहर से तुम सो जाओगे इसलिए कबीर ने कहा तारी क्योंकि तुम बाहर जगे हुए हो भीतर सोए हो जब भीतर जगोगे बाहर सो जाओ जैसे ही भीतर की तारी लगी तुम सिद्ध हो जैसे ही तुम बाहर जागे और भीतर सो गए तुम साधक हो साधक और सिद्ध में जो फासला है बस इतना ही तुम्हारी आंखें जब बाहर को देखती तब तुम साधक हो जब भीतर को देखती तब तुम सिद्ध हो पहला कदम उठता नहीं कि मंजिल आ जाती जीप हिलती नहीं कि वक्तव्य पूरा हो जाता आज इतना